सीताराम नाम की पूजी बल्ले मानोरी मना सीताराम नाम की पूजी पल्ले माधुरी मना बल्ले मानोरे मना बल्ले माधुरी मना सीताराम नाम की पूजी पल्ले मानोरे मना तलपन छानिए खानिए लिए नाम है लखाड़िय नित्य निय नाम मन मजूरी देता है क्यों राखे गो राम सीता नाम के पूजे बल्ले मानो रे मना सीता राम नाम के पूजे बल्ले मानो रे मना संसार में कर लीजिए तू काम संसार में कर लीजिए तुम काम देने को टुकड़ा भला लेने को हर नाम राम नाम की राम नाम की पूजे बल्ले बांधो रे मना बल्ले बांधो रे मना बल्ले बांधो रे मना राम नाम आते सीता नाम की पूजे बल्ले बांधो रे मना राम नाम की पूजा है सके अंत काल पछताय गो प्राण जाय गो सीता राम नाम के पूजे बल्ले बानो रे बना सीता राम नाम के पूजे बल्ले बानो रे बना ये संसार में पांच तत्व है सारे ये संसार में पंच तत्व है सारे संत समागम हरि भजन दया दान उपकार सीताराम नाम के पूजे बल्ले बांधो रे मना सीताराम नाम के पूजे बल्ले बांधो रे मना बल्ले बांधो बल्ले बांधो रे मना सत्य वचन और दीनता परप्रिय मात समान सत्य वचन और दीनता परप्रिय मात समान इतने किए हरि ना मिले तो तुलसीदास जमान इतने किए हरि ना मिले तो तुलसीदास जमान सीता राम नाम आगे सीता राम नाम के मुझे पल्ले बांधो रे पल्ले बांधो रे मना पल्ले बांधो